दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक काम किए हैं अल्लाह उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी जहां उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से सजाया जाएगा और जहां उनका लिबास रेशम होगा